as a show समासते उपस्थित सज्जनों मातृशक्ति ईश्वर की महती कृपा से आज हमने उत्तम दैनिक कार्यों का संपादन किया योग के साथ में परमाणु का संबंध है रहता है योग को यदि जानना हो तो परमाणु से परीक्षा करनी सीख, सीखी जाएगी परमाणु से परीक्षा करनी पड़ेगी जानना नहीं जानते अर्थात परमाणु से कसो परमाणु की कसौटी पर कस करके वस्तु की परीक्षा नहीं करना जानते वे व्यक्ति योग विद्या को नहीं सीख सकते ये बहुत छोटा क्षेत्र है जिसमें कि परमाणु के आधार पर योग सिखाया जाता है कुछ नियम हैं जिनके आधार पर किसी सत्यता को जाना जाता है आपने योग दर्शन पढ़ा क्यों जी आरंभ से पहला पाठ पढ़ा होगा तो कितने प्रमाण माने उसमें क्यों जी नए साधकों में से पता हो किसी को अच्छा पुराने साधकों को छोड़ो नए साधक बताएंगे कि वो कौन कौन से हैं तीन पुराने साधक नहीं बताएंगे मैं पुराने साधकों में से हां एक अच्छा आप में से है नए साधकों में से किसी को याद इनको देखो प्राय याद नहीं है एक परंपरा ऐसी चलती है योग के नाम से साधना के नाम से ध्यान के नाम से वहां परमाणु का नाम ही नहीं लिया जाता ऐसा समझते हैं योग जैसी चीज योग जैसा ज्ञान विज्ञान बस बिना ही सोचे चलने का होता है ऋषि ऐसा नहीं मानते ऋषियों की परंपरा ये नहीं है ये अनऋषियों की परंपरा है मध्य काल में लोगों ने ये परंपराएं खड़ी की है उसमें वेद के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दर्शनों के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है संवाद करके सत्यासत्य को जानने की आवश्यकता नहीं है बस कुछ करना है करो इसलिए एक बात याद रखिए प्रमाण जिस बात को जैसा सिद्ध करता है वैसी व्यक्ति को माननी पड़ती है मैं की जैसा व्यक्ति मानता है ऐसा सत्य होता है आप दोहराओ मैंने क्या कहा व्यक्ति प्राय ये सोचता है मैं जैसा मानता हूं वो सत्य है ये ऋषियों की परंपरा नहीं है ऋषि ये कहते हैं प्रमाण इस बात को जैसा सत्य सिद्ध करता वैसा मैं मानता हूं ऐसा नहीं है कि मैं जैसा मानता हूं वो ठीक है और संवाद में तो ये बात चलती ही नहीं बिल्कुल प्रमाण देना पड़ता है आपको हमको ये मान के चलना पड़ेगा किसी के बस की बात नहीं है प्रमाण से ईश्वर से होता है इसलिए हम ईश्वर को मानते हैं मैं ईश्वर को मानता हूं इसलिए ईश्वर है ये नहीं है सिद्धि है जीवात्मा की न कि मैं जीव को मानता हूं ये सिद्धि है प्रमाण से ये संसार है ये सिद्ध है न कि मैं इसको मानता हूं इसलिए संसार सिद्ध है कुछ गहराई से देखिए आप आपके व्यवहार में ये भूल लगभग सर्वत्र मिलेगी व्यक्ति अपनी बुद्धि की प्रधानता मान के चलता है मैं जैसा सोचता हूं मैं जैसा मानता हूं और वैसा ही ठीक है कई लोग इस बात के ऊपर अड़ जाते हैं कि मेरा तो ये प्रत्यक्ष है अच्छा मेरा तो प्रत्यक्ष है अब आप ये बताइए आपका प्रत्यक्ष गलत भी होता है या नहीं जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं अनुभूति कहते हैं वो उल्टी भी होती है और सीधी भी होती है अब प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति गलत भी होती है और अच्छी भी होती है अब ये कैसे कहें कि जैसा आपको अनुभूता हो शत प्रतिशत ठीक है ये नहीं कह सकता कोई व्यक्ति हां आपके प्रत्यक्ष को कसौटियों से कसा जाएगा और वो कसौटियों के कसने के पश्चात उस कोटि में आ जाएगा प्रत्यक्ष की कोटि में प्रत्यक्ष के जो तीन लक्षण कभी आपने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़े होंगे उत्कर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव विदेशम व्यवसाय आतंकम प्रत्यक्षम गौतम ऋषि न्याय के रचयिता ये परिभाषा करते इंद्रिया सन्निकृष्टो उत्पन्न ज्ञानम इंद्रिया पांच हजार इंद्रिया इंद्रिय अर्थ अर्थ का क्या अर्थ है पांच विषय शब्द स्पर्श रूप रस ये अर्थ कहलाते हैं इंद्रिया असन्निकर्ष सन्निकर्ष कहते हैं मेल संबंध इंद्रिया सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम पांच इंद्रियों का पांच विषयों के साथ संबंध होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है यहां तक पहुंच गए आप संबंध से जो पांच प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है यहां तक पहुंचे इंद्रिया सन्निकर्षो उत्पन्न में ज्ञानम इंद्रिय और अर्थों के संबंध से जो ज्ञान उत्पन्न होता है यहां तक पहुंचे आप अविदेश्यम एक नियम लागू किया वो ज्ञान उत्पन्न तो हो गया पर उसमें यह पहला दोष नहीं होना चाहिए अविदेश्यम दोष नहीं होना चाहिए व्यपदेश्य कहते हैं जो वाणी से बताया जावे व्यपदेश्य हाँ जी व्यपदेश्य का अर्थ है जो वाणी से कहा जाए आप अंगूर खाते हो ना खाते हो भाई और खाने जब लगे और आपका भाई बैठा ना दूसरा कहने के भाई ये बहुत मीठा है आपने कहा भाई ये बहुत मीठा है उसने जान लिया भाई कहता है मीठा होगा तो उसका प्रत्यक्ष है या नहीं है है ये तो छोटा बालक है ना हाँ जी अशोक जी आप बताओ फिर सांस सुनो अशोक जी की परीक्षा होगी अभी आप चुप रहना उससे पूछा जाए तो आप उत्तर नहीं देना आप ये बतलाओ ये बालक तो अंगूर खा रहा है और कहता बड़ा मीठा है और इसलिए भाई ने पास वाले जान दिया भाई सत्य बोल रहा है मीठा ही है उस सुनने वाले भाई का जो कहता है मीठा ही है वो प्रत्यक्ष है नहीं उसका उसने बता दिया उसको ये पूछा है अच्छा मुझे बिच्छू काट जाए और मैं आपसे कहूं कि अशोक जी ये बिच्छू काटता ब्रदर होता आपका जान नहीं आ जाए अभी मानोगे नहीं क्या बोलो मानना पड़ेगा अच्छा आप आगे बढ़ेंगे आप इस मुझे बिच्छू ने काटा दर्द हुआ मेरा प्रत्यक्ष है इनको जो ज्ञान हुआ वो शब्द का शाब्दिक ज्ञान है वो प्रत्यक्ष नहीं है इनका शाब्दिक है वो मेरी वाणी को सत्य मान लिया उन्होंने शब्द ज्ञान है ये ये प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटि में नहीं आता शब्द प्रमाण की कोटि में आता है इसलिए जो चीजें दूसरे के द्वारा अनुभव करके बताई जाती हैं वो सुनने वाले के प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं आती इसलिए ऋषि कहते हैं जो शब्द के माध्यम से ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता एक बात तो आ गई समझ में दूसरी बात उन्होंने कहा वो ज्ञान जो है वहां व्यभिचारी नहीं होना चाहिए अ अ लगा दिया वहां पर भी अव्यभिचारी दर्शन की भाषा में झूठे ज्ञान को व्यभिचारी ज्ञान बोलते हैं क्या बोलते हैं झूठे ज्ञान को व्यभिचारी ज्ञान बोलते हैं और तीन काल में जो सत्य रहे उस ज्ञान का नाम है वे व्यविचार करते नियम भंग <laughs> तो नियम भंग जो जिसका नियम भंग है कभी भी नहीं होता वो ज्ञान अविचारी रात्रि में आप चले काल चार बजे उठ के लाठी लेके टॉर्च लेकर ये करके और वहां वो कटा हुआ ठूट था वो लक्कड़ और आपने देखा ढोल बोला क्योंकि ये तो मुरासा सा दिख रहा है देखिए वो चोर है वहां पड़े क्या बात है चोर है और फिर चाहिए आगे लाओ आगे बढ़ो तो वो को ये तो लक्कड़ है ये ज्ञान क्या है व्यभिचारी ज्ञान है एक दिन की रोते घटना सुनाता हूं आपको वही रोते घटना के बिना आप तो कड़ुए कड़ुए कर तो सुनेंगे नहीं नींद भी आएगी और ये जो है उसमें आकृष्ट भी नहीं होगा इनका और एक बार गुरुकुल की घटना है हम प्रातः काल जाते थे शौचादी के लेके कमर लेके चार बजे जैसे उठ गए फिर ऐसे मंत्र बोले मंत्र बोल के दाए पाए दिशाओं में घूम कर अब चले जाते शौच के लिए इधर एक तोड़ इधर चला गया एक इधर चला गया गुरुकुल जज्जे की घटना है एक दिन ऐसा हुआ वहां के जो अधिष्ठाता जी जो तो थे वो बीमार हो गए बार बार शौच जाना पड़ा मुझे पहले हंसी आ रही है तो बार बार शौच जाना पड़ा और बार बार शौच जाने की वजह भाई गुरुकुल से जंगल में शौच जाते थे बार बार जाना पड़ेगा वो शौच गए वहीं जंगल में लेट गए वहीं और क्या करें बार बार शौच जाना पड़ा तो बदले दी तो कोई दस वर्ष का होता है तो कोई बारह का चौदह का पंद्रह का सब तरह के होते हैं वहां छोटे बड़े और गए और चले अपने अपनी जगह मैं दूसरी दिशा में गया था इससे दूसरी वो इस समय थे अधिष्ठाता जी इसमें थे मूल समय था और जो आगे बड़े खेतों में अरे अधिष्ठाता जी लेटे हुए थे ना वो उठ खड़े हुए बस <laughs> भगदड़ मच गई <laughs> वो दल में मच गई घटना घटी पता नहीं क्या घटना है इतनी हूं हुई है तो सारे लोग आए घटा घटी मैं भी आ गया भाई घटना क्या घटी है वो तो वो रिश्तादारी वाले तो भाग ही आए थे हम भी सर से भागे कोई घटना घटी है दूसरी दिशा में और फिर कमरे को देखा तो कोई कमरे के इस्तेमाल पर कर रहा है कोई कमरे को ये उतर गया एक भी दिखाई नहीं दिया क्या बात है बात कुछ नहीं था अधिष्ठाता जी बीमार हो गए थे तो ये जो है ये तो विचारी जान है दूसरा युद्ध हो गया उन्होंने समझा पता नहीं क्या भला है वो अपने ही तो मनुष्य थे और एक और है एक एक स्वामी सत्यपति नाम का व्यक्ति आया और वो घरों में फरीदाबाद में प्रचार करने लगा हाँ, बहुत का भाषण दिया और माताएं मैंने के बेटे तैयार हो गए अखिल जी है और वो अश्विनी है और फिर ये और कहने लगे भाई ये तो गुरुकुल में जाएंगे कि तुम तो वो कहने लगे हाँ ये साधु बहुत हानिकारक है ये हमारा विनाश करेगा ये कैसा जान है जो विचारी ज्ञान है ये ये उल्टा जो तो ज्ञान होता है वो विचारी ज्ञान होता है तो ये सब जगह लागू होता है अभी इनमें से कई लोग यूं सोच रहे होंगे सबकी तो बात ऐसी संभावना है पता नहीं मुझे तो जी कोई दुखी है आप में से याद कर हाँ जी एक व्यक्ति की आत्मनिरीक्षण में बीच में दोस्त पूछते थे हम वो थे पचास वर्ष के लगभग तपोवन में और सबके बीच में खड़ा होकर बताना पड़ता है और वो बेचारा दुखी था अंदर अंदर बताओ जीवान पर से जी आज क्या दोष किया झूठ बोली अब बड़ा दुखी बड़ा दुखी और दूसरे दिन देखा तो पता ही नहीं क्या वो कहां गया क्या बात है बात क्या जी सबके बीच में दोष नहीं बता सकता अब रोज यहां खड़ा हो गए खड़ा तो नहीं करते वैसे दोष बताने पड़ते हैं ना अब नहीं बताते होंगे आप और जो दुखी होंगे ना वो कहते हैं एक दिन दो दिन तीन दिन कितने हो गए आज छह हो गए क्या तीन चार और रहे रहे वो ऐसा जल्दी से जल्दी निकल जाओ ये जान कैसा है जो विचारी जाने अच्छा देखो जब गट्टी लगती है और देख ली अंगूर की पेटी और घंटी लगते ही सोचेगा कि उस उस पंक्ति में पहले बैठते हूं वहां बैठूंगा मैं अब वो अब जब जब वो ध्यान करता है ना ध्यान करना पड़ जाए ना ऐसे तो ध्यान में भी अंगूरी आ जाएंगे और वो परमात्मा की ओर मन नहीं जाएगा और भोजन की ओर जाएगा ये कैसा ज्ञान है व्यविचार एक बार तपोवन में बैठा था और लोग जा रहे जटे फटक फटक फटक फटक फटक फटक बहुत तेजी से चल रहे मैंने कहा भाई आज इतनी आवाज चप्पलों की क्यों आ रही है वो कहते स्वामी जी आज खीर या हलवा बना है इसलिए इतनी तेज आवाज आ रही है अरे अच्छा, यज्ञ होगा ना हवन वो कहेंगे कब पूरा होगा उनको अब मिलने या तो वो जुड़ जाएगा मेरे लोग वो मतलब ये सोचेगा पूरा होने वाला है तो ये जो बेचारी जान है लोग अपने लड़के लड़की को चार पांच वर्ष के बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाते हैं हिंदी न लिखनी आती न बोलनी आती और वो कहते हैं हमारा इससे कल्याण हो जाएगा ये कैसा जान है बस सारा समझ लेना ये सारा दुष्ट ज्ञान है इसका नाम प्रत्यक्ष नहीं है अब दो तो हो गए पूरे नियम कौन सा रह गया एक रह गया व्यवसाय आत्मकम उन्होंने कहा एक चीज दिखती है पर आभास हो रहा है कि वो चीज है पर संदेह होता है पता नहीं ये बालू है या नहर नदी चल रही है जहां चीज दिखती है अच्छी तरह से हम देख रहे हैं पर वो चीज दिखते हुए भी संशयात्मक ज्ञान रहता है एक गऊ है हमारी भी गऊ है मान लीजिए गौशाला की वहां भी एक गऊ है लाल रंग की जब हम उस गऊ को देखते हैं तो गऊ तो दिख रही है पर हम ये नहीं समझ पा रहे ये अपनी गऊ है या दूसरे की है जब संदेह जब बन जाता है तो उसका नाम भी प्रत्यक्ष तीन नियम ऋषि ने बतलाए वो ज्ञान शाब्दिक ना हो अपना अनुभव का हो दूसरी बात वो ज्ञान झूठा सिद्ध न हो तीन काल में सत्य ही रहे ऐसा ज्ञान वो संशयात्मक ज्ञान न हो ये तीन नियमों से अर्थात पूरा हो तीन दोष न हो तो क्या कहलाएगा प्रत्यक्ष कहलाएगा अब एक व्यक्ति कहे मुझे ध्यान में ये चीज दिखाई देती है और मैं तो इसको बिल्कुल ठीक मानता हूं पर अंतर में परीक्षण करने से वह झूठी सिद्ध हो जाती है इसलिए अपनी अनुभूति जो होती है उसमें जब तक परीक्षा में हो उसका प्रत्यक्ष ज्ञान भी गलत होता है एक हो गया अब दूसरा प्रमाण अनुमान अनुमान प्रमाण बहुत काम का है और अनुमान प्रमाण एक ऐसा प्रमाण है जिसे दुनिया के लोग सब मिलकर विचार कर सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान काल में चीज को जनाता है और अनुमान प्रमाण बताओ जी राजेंद्र जी अनुमान प्रमाण कब जनाता है प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान काल में वस्तु को जनाता है और अनुमान प्रमाण तीनों कालों में वस्तु को जनाता है भूत भविष्य वर्तमान तीनों वस्तु को जनाता है अनुमान प्रमाण अभी हमने धुआं देखा बड़ा तेजी से चल रहा अब धुआं ही तो दिख रहा अग्नि तो नहीं दिख रही तो हमने क्या जान लिया अग्नि है हो गया और वहां रात पड़ी खूब ढेर अग्नि नहीं थी कुछ भी रात पड़ी होती ना कहीं हम गए घूमने के लिए राख मिली तो क्या पता लगा लिया यहां आग लगी थी है जी ठीक है ना हो गया और आगे हैं हाँ वहां बादल का लगा लो वैज्ञानिक लोग पहले से समझ लेगा जो आकाश और बादल की वही वर्षा अब होने वाली है आप पढ़ रहे हो तो क्या अनुमान लगाएंगे हम इनको विद्या आएगी अनुमान प्रमाण जो है वो तीनों कानून की बात को जनाता है कई लोग कहते हैं हम तो प्रत्यक्ष को मानते हैं प्रत्यक्ष को मानने के केवल मानने से कुछ भी व्यवहार नहीं चल सकता जितनी ये बातें होती है जो ये मतवादी होते हैं ना जैसे रजनीश थे और भी ऐसे हैं वो क्या क्या उत्तर देते सारी बातों का मेरा अपना अनुभव है आप मानो तो मानो मेरा अनुभव अपना प्रमाण दो तो- प्रमाण की जरूरत ही नहीं मेरा प्रत्यक्ष है ये उत्तर देते चले जाएंगे हाँ जी बदली वाले सोने की तैयारी तो नहीं कर रहे ये हाँ हो रही है थोड़ी तो। थोड़ी आपकी आपकी बात आप बदली वाले तो वो तो वहां है बम्बई वाले <laughs> तो आप देखेंगे वो लोग इसमें टालते रहते हैं ये मेरा अनुभव है मेरा अनुभव अब इसके समय कौन बोले मेरा अनुभव है अच्छा ये बताओ मैंने कहा ईश्वर सातवें समान पर बैठा है है जी और आपने कहा ईश्वर जो है चौथे समान पर बैठा है ठीक है ना अपना अपना अनुभव दोनों को ठीक है तो ये बताओ वो जो अनुभव जो हो रहा है ना उनका दोनों का है जी एक चौथे समान वाले को सातवें समान वाला समझाने बैठा कि आप गलत सोच रहे हो <laughs> और उस वाला उसको समझाने बैठा तो तुम गलत सोच रहे हो तुमको पता कैसे चलेगा मैं गलत सोच रहा हूं अब पकड़ में आना मुश्किल है अब तो आपको दौड़ लगानी पड़ेगी मैंने क्या कहा है अब पकड़ में नहीं आएगा हैं दृष्टान देता हूं ये थोड़ा सा सरल हो जाएगा एक ने कहा कि तू भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म ब्रह्म सत्यम जगत में सब ब्रह्म ही ब्रह्म है दूसरे ने कहा ईश्वर जी प्रकृति तीन अलग अलग है दोनों का संवाद छेड़ पड़ा हो गया ना एक ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत में क्या एक ने कहा नहीं ईश्वर जी प्रकृति दोनों का बाद ही बात चल गया और उसने कहा जो कहता था ना ब्रह्म सत्यम जगत में क्या उसने कहा कि आप ब्रह्म में और वो ये मानता है मेरा जो प्रत्यक्ष है ना मैं उसी प्रमाण को मानता हूं दूसरे को मैं मानता हूं नहीं क्या कहा उसने प्रत्यक्ष प्रमाण को मैं मानता हूं और अनुमान को मैं मानता नहीं और मेरा प्रत्यक्ष है कि मैं भी ब्रह्म हूं तू भी ब्रह्म और तीन पदार्थों को मानने वाले को कहता है तू ब्रह्म पड़ गया तुझे पता नहीं तीन पदार्थ नहीं है वो पूछने लगा तूने किससे जाना इसको क्यों जी अब सोने वाले सोने की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि अब किससे ज्यादा उसने नहीं वो व्यक्ति ब्रह्म है इस बात को किससे किससे जाना उसने है हा कहां से हाँ, आवाज आई अगर वे पांच अरब को तो मानता ही नहीं वो प्रत्येक को ही मानता है तो चलो ये थोड़ी गहरी बात छेड़ दी हाँ जो प्रत्यक्ष को मानता है और दूसरे को कहता है तू भूल में है दूसरा पूछता है मैं भूल में क्यों इसको बताओ तुम वो क्या उत्तर देगा नहीं वो मेरी भूल को तो वो भूल नहीं जानता ना उसका दिमाग तो ब्रह्म सत्यम है और मेरी मैं तीन मानता हूं वो तीन को तो उसका ज्ञान काम करेगा नहीं बहुत प्रत्यक्ष मतलब ब्रह्म है और अनुमान को वो मानता नहीं तो मुझे भूल क्यों बता रहा नहीं वो अच्छा चलो इसको थोड़ा सा जब आप दो चार बार आएंगे ना कई बार जब इसकी फिर समझ पाओगे अब तो इतने तक तो पहुंच गए ना अच्छा <laughs> अच्छा अब हम अनुमान की थोड़ी सी छेड़ेंगे देखो आपस में बात करो दूसरे से वार्तालाप करो तो अनुमान सब, अनुमान प्रमाण का प्रयोग कैसे चलता है अब हम अनुमान पर चलेंगे हमने ये सिद्ध करना है कि शरीर नाशमान है क्या करना है ये सिद्ध करना है अपने लिए भी चाहिए और दूसरे को समझाने के लिए भी चाहिए आप ध्यान देंगे कहने की बात दूसरी है वस्तुतः व्यक्ति शरीर को नाशवान मानने के लिए तैयार नहीं है अजा आपकी परीक्षा लू मैं जो शरीर को नाशवान मानते हो हाथ खड़ा करो जो शरीर को नाशवान मानते हो वो हाथ खड़ा करो और वो ब्रह्मचारी लोग प्राय नहीं खड़ा कर रहे वो वो वो सुनती हो प्राय हाथ खड़ा रही ये बहुत हाथ खड़े होंगे और ये दूसरे को देख देख के कर रहे होंगे अच्छा अब सुनो ये शाब्दिक ज्ञान है दिमाग में नहीं बैठा था ये ज्ञान शाब्दिक ज्ञान है सब कहते हैं खंडन तो कर नहीं सकते मरता है शरीर पर मन में नहीं बैठता ये कि शरीर नाशवान है एक व्यक्ति अपने को समझाने के लिए या दूसरे को समझाने के लिए शरीर को नाशवान सिद्ध करता है याद रखिए इसको पंच अवय बोलते हैं पांच बातें कही जाएंगी आपको बोलना आएगा दूसरे से